ले चलो सत्य पथ जाता घोर अघ से बचूं सिर निवाता ले चलो सत्य पथ सर्व जाता घोर अघ से बचूं सिर निवाता मुझको दो आत्म बल जिससे होवे सफल साधना है ये पथ पर चलू कामना है ओम सुख कंद से सचिदानंद से याचना है हे ये पथ पर चलू कामना है भगत उपासक ये अपनी तीव्र इच्छा लेके उपस्थित होता है कि हे ईश्वर मैं आपके दर्शन करने के लिए आपका प्रत्यक्ष करने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ आप मुझे सहायता प्रदान करो तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ पिला दो प्रेम का अमृत पासा लेके आया हूँ रतन मोल लाने वाले लाते भेंट को तेरी वो लाते भेंट को तेरी रतन अन मोल लाने वाल लाते भेंट को तेरी वो लाते भेंट को तेरी मैं केवल आंसुओं की मंजुमाला लेके आया हूँ तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं चाल के आया हूँ पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ जगत के रंग सब फीके तू अपने रंग में रंग दे तू अपने रंग में रंग दे जगत के रंग सब फीके तू अपने रंग में रंग दे तू अपने रंग में रंग दे मैं अपना यह महा बदरंग बना लेके आया हूँ तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ प्रकाश नंद हो जावे मेरी अंधेरी कुटिया में मेरी अंधेरी कुटिया में प्रकाश नंद हो जावे मेरी अन अंधेरी कुटिया में मेरी अंधेरी कुटिया में तुम्हारा आसरा विश्वास आशा लेके आया हूँ तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ ईश्वर की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ईश्वर के दर्शन करना चाहता है प्रत्यक्ष करना चाहता है तो ज्ञान कर्म उपासना को जुगवेती लेके चलता है ईश्वर को सहायता देता है और ईश्वर अपने स्वरूप का अनुभव करवा देता है अब आप आगे सुनेंगे व्यक्ति ये सोचता है कि पचहत्तर वर्ष की अवस्था अस्सी वर्ष की अवस्था में भक्ति करने का समय होता है ऐसी व्यक्ति बातें करता है ऐसी भूल करता है वास्तविकता ये नहीं है बाल्यावस्था से लेकर के वृद्ध अवस्था पर्यंत सभी अवस्थाओं में ईश्वर भक्ति करनी अनिवार्य है आवश्यक है यदि व्यक्ति ऐसा सोचता है बुढ़ापे में वृद्ध अवस्था में करेंगे तो वो उसकी भूल है रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई गई गई बस गई लौट कर गई गई बस गई लौट कर फिर न कभी वह आई रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई जिसकी रक्षा के हित खाई मेवा और मिठाई हाँ हाँ मेवा और मिठाई जिसकी रक्षा के हित खाई मेवा और मिठाई हाँ हाँ मेवा और मिठाई दूध दही घृत मक्खन खाया हलवा खीर मलाई कोई रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई पिस्ता और बादाम छवारे ढेरों किस्म सिखाई हाँ हाँ ढेरों किस्म सिखाई पिस्ता और बादाम छुआरे ढेरों किस्म से खाई हाँ हाँ ढेरों किस्म से खाई लड्डू पेड़ा और इमरती बर्फी बालू शाही रे बता दे कोई कहा गई तरुणाई बहता दे कोई कहा गई आई जवानी कहाँ चली गई रसगुल्ले रस बड़े आदि पर जिसकी रही चढ़ाई हाँ हाँ जिसकी रही चढ़ाई रसगुल्ले रस बड़े आदि पर जिसकी रही चढ़ाई हाँ हाँ जिसकी रही चढ़ाई उस उस बेवफा आयु ने मुड़कर सूरत नहीं दिखाई रे बता दे कोई कहा गई तरुणाई बता दे कोई कहा गई तरुणाई चली कैसे गई चली गई चुपचाप तोड़ कर ममता मोह मिताई हाँ हाँ ममता मोह मिताई चली गई चुपचाप तोड़ कर ममता मोह मिताई हाँ हाँ ममता मोह मिताई उसे ढूंढते कमर झुक गई फिर भी थांग न पाई रे बता दे कोई गई तरुणाई बहता दे कोई कहाँ गई तरुणाई ऊंचे ऊंचे पर्वत लांगे, नीची नदियां खाई हा नीची नदियां खाई ऊंचे ऊंचे पर्वत लांगे नीची नदियां खाई हां हां नीची नदियां खाई अब दस अंगुल नीचा ऊंचा देख बुद्धि चकराई रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई कानन सुने आंख नहीं देख पैर चले लंगड़ाई हाँ हाँ पैर चले लंगड़ाई कानन सुने आंख नहीं देख पैर चले लंगड़ाई हाँ हाँ पैर चले लंगड़ाई तन में रोग समूह समायो मन में भूल समाई रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई बहता दे कोई कहाँ गई तरुणाई युको के लिए संकेत दिया कवि ने रे नवयू को बात हमारी सुनो कान में भाई हाँ हाँ सुनो कान में भाई रे नवयू को बात हमारी सुनो कान में भाई हाँ हाँ सुनो कान में भाई यह तुरनाई धोखा देगी तज के सने सगाई रे बता दे कोई गई तरुणाई बता दे कोई कहा गई तरुणाई इसके जाने से पहले कुछ कर लो अमर कमाई हाँ हाँ कर लो अमर कमाई इसके जाने से पहले कुछ कर लो अमर कमाई हाँ हाँ कर लो अमर कमाई भाई जो कुछ लाभ ले सको ले लो फिर न उठेगी पाई रे बता दे कोई कहा गई तरुणाई बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई गई गई बस गई लौट कर गई गई बस गई लौट कर फिर न कभी वह आई रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई बता दे कोई कहा गई तरुणाई तरुणाई जवानी ये जवानी चली जाएगी पता नहीं चलेगा इसलिए व्यक्ति को सभी कालों में सभी आश्रमों में ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ वह दुखियों का हम दर्द अकेलों का साथी श्रुति जगदादार है उसे को बताती वह दुखियों का हम दर्द अकेलों का साथी श्रुति जगदादार है उसे को बताती अजर है अमर है शरण उसकी आओ तो आवा गमन से सभी छूट जाओ परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ है गागर में सागर भरा वेद वाणी चौरसियों द्वारा गई जो बखानी है गागर में सागर भरा वेद वाणी चौरसियों द्वारा गई जो बखानी उसी दीप से मन का दीपक जलाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ वह आनंद गण है सकल दुख हरैया पिता माता वही है सखा और भैया वह आनंद गन है सकल दुख हरैया पिता माता वही है सखा और भैया उसी से करो प्रीत उसी से करो प्रीत प्रीतम बनाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ है योगी समाधि में जिसको पुकारे जमाने के वैभव की चाना बिसारे है योगी समाधि में जिसको पुकारे जमाने के वैभव की साना बिसारे उसी में लगन सब तुम्हें भी लगाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ अब आप एक अगले विषय को सुनेंगे अर्थात संसार के अंदर बिना आत्मा परमात्मा के ज्ञान सभी संसार के मनुष्य भटक जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति भटक जाता है आज केवल भोगवाद और केवल धनवाद को लेकर व्यक्ति भटक चुका है और विश्व में संतप्त अर्थात सभी व्यक्ति धनवान और कंगाल बेचारे दुखी हैं अब इसी की ओर संकेत है वे आत्म ज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं आम बसर की तो बात ही क्या सुल्तान भटकते देखे हैं बिन आत्म जाने के दुनिया में जो सब्रों से को की दौलत है मिलती है आत्म जानी को मिलती है आत्म जानी को जो सब्रों से को की दौलती है मिलती है आत्म जानी को मिलती है आत्म जानी को तस्कीन के बिन तो देखा है धनवान भटकते देखे हैं बिन आत्म जान के दुनिया में सब जान तो उसने सीख लिया पर आत्म जान ही सीखाना पर आत्म ज्ञान ही सीखाना सब ज्ञान तो उसने सीख लिया पर आत्म ज्ञान ही सीखाना पर आत्म ज्ञान ही सीखाना यह कारण है कि पंडित भी अनजाने भटकते देखे हैं बेने आत्म जाने के दुनिया में जो भटकाते हैं दुनिया को वे आप भटकते देखे हैं वे आप भटकते देखे हैं जो भटकाते हैं दुनिया को वे आप भटकते देखे हैं वे आप भटकते देखे हैं गुणवान भटकते देखे हैं साई सदान भटकते देखे हैं बिन आत्म जाने के दुनिया में जिसे मैं फैले में भी देखा है हर एक को भटका पाया है हर एक को भटका पाया है जिसे मैं फैले में भी देखा है हर एक को भटका पाया है हर एक को भटका पाया है हर मेंबर की तो बात ही क्या प्रधान भटकते देखे हैं बेने आत्म ज्ञान के दुनिया में जो आत्म जानी होता है बलवान है सारी दुनिया में बलवान है सारी दुनिया में जो आत्म जानी होता है बलवान है सारी दुनिया में बलवान है सारी दुनिया में वैसे तो पथिक दुनिया में बलवान भटकते देखे हैं दिन आत्म जाने के दुनिया में अजाने के कारण देधारी मानव को ही ईश्वर मान लिया मानव को ही ईश्वर मान लिया अज्ञान के कारण देधारी मानव को ही ईश्वर मान लिया मानव को ही ईश्वर मान लिया अब जाने माने लोगों के अब जाने माने लोगों के भगवान भटकते देखे हैं बिन आत्म जान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं आम बसर की तो बात ही क्या सुल्तान भटकते देखे हैं बिन आत्म ज्ञान के दुनिया में बिन आत्म ज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं आम बसर की तो बात ही क्या सुल्तान भटकते देखे हैं इसलिए आत्मा परमात्मा का ज्ञान विज्ञान भौतिक विज्ञान के साथ चलना चाहिए शांति गीत सुनने का प्रयास कीजिए वे शांति कीजिए प्रभूति भुवन में शांति कीजिए प्रभूति भुवन में जल में थल में और गगन में जल में थल में और गगन में अंतरिक्ष में अग्नि पवन में अंतरिक्ष में अग्नि पवन में औषधि वनस्पति वन उपवन में औषधि वनस्पति वन उपवन में सकल विश्व में जड़ चेतन में सकल विश्व में जड़ चेतन में शांति की जिए प्रभूति भुवन में शांति कीजिए प्रभूति भुवन में ब्राह्मण के उपदेश वचन में ब्राह्मण के उपदेश वचन में क्षत्रिय के द्वारा होरण में क्षत्रिय के द्वारा हो रहने में वैश्य जनों के होवे धन में वैश्य जनों के होवे धन में और सेवक के हो चरण में और सेवक के हो चरण में शांति कीजिए प्रभु की भुवन में शांति कीजिए प्रभु की भुवन में शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में नगर ग्राम में और भवन में नगर ग्राम में और भवन में जीव मात्र के तन में मन में जीव मात्र के तन में मन में और जगति के हो कण कण में और जगति के हो कण कण में शांति कीजिए प्रभुति भुवन में शांति कीजिए प्रभूति भुवन में शांति कीजिए प्रभूति भुवन में शांति कीजिए प्रभूति भुवन में जल में थल में और गगन में जल में थल में और गगन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में शांति पाठ हाँ। आपके सामने ऋषि कंपनी की तरफ से ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है और श्री रामपाल जी आर्य ऋषि radio Kachcha Beri road bus stand gate Rohtak ये उनके अधिकार केंद्र कैसेट है